अब देखो ईश्वर प्रणिधान के साथ साथ और कुछ करना है ये भी बता रहा है अब केवल ईश्वर प्रणिधान से नहीं होता है ये दूसरी चीज़ें भी आवश्यक होती है यश इदम शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम यश जिसके लिए यह शास्त्र के द्वारा परिकर्म हम्म, अभ्यास विशेष निर्दिश्यते बताया जाता है तत्कथम वह कैसा होता है इस नहीं है मेरे वाले मेरे वाले नहीं है अच्छा ठीक है लगा लेना इसमें नहीं है लगा तो जिसका चित्त क्या है अवस्थित है यानी स्थित नहीं है एकाग्र नहीं है उसके लिए शास्त्र में परिक्रम का मनोनियंत्रण के अभ्यास का विधान है हम्म। तो वो कैसा है क्या है उसके बारे में अब बता रहे हैं कि उसको ये ये कार्य करने होते हैं यानी व्यवहार काल में ये करने का होता है जब अभी बैठा नहीं है ध्यान में या ध्यान में बैठ जाने पर भी चित्त में यदि विक्षेप आ गया इन कारणों से तो उसी समय वो कैसे निदान करें आप समाधि लगाने के लिए ध्यान लगाने के लिए बैठे हुए हैं और किसी ने मुर्गा मारना शुरू कर दिया वहीं पे तो अब कैसे ध्यान लगाएंगे वहाँ उसका मुर्गा छुड़वाएंगे मारना लड़ेंगे जा कर के या फिर अपना काम पूरा करना है ये है इसमें हम्म, आपने प्रतिज्ञा कर ली मुझे समाधि लगानी है फिर गोहत्या का शुरू हो गया हम्म, जुलूस निकल रहा है तो अब क्या करेंगे उसमें भाग लेंगे या बैठेंगे बैठना है तो कैसे बैठेंगे हाँ हम्म, ऐसे ही आपने कहीं पे बैठ गए जाके कुटिया में और आ गया कोई कि यहाँ वोट होने वाला है चुनाव होने वाला है हमारा नेता एक से एक बिगाड़ बिगड़ा हुआ व्यक्ति है अच्छे व्यक्ति को लाना है तो चलो नहीं तुम्हारी तो समाधि नहीं लगेगी तो उस समय फिर कैसे करेंगे मतलब रास्ते में आप जा रहे हैं किसी गाड़ी में बस में बैठे हुए हैं सीट पर बैठे हैं और एक बहुत गंदा आदमी आ गया मेला को चैला है लेकिन टिकट ले रखा है उसने अब कैसे बैठेंगे साथ में उसको बैठने देंगे कि नहीं बैठने देंगे वो बैठ गया तो क्या होगा हम्म, कैसे अपने आप को स्थिर रखेंगे या सोचते रहेंगे किसी तरह उतर जाए या दूसरे को बैठा देंगे बोल देंगे कि उसकी सीट है यहाँ बताओ झूठ बोलेंगे कुछ करेंगे क्या करेंगे वहाँ या अपनी शांति जो है बनाए रखेंगे हम्म। तो ऐसे व्यवहार काल में जिसमें साधक व्यक्ति व्यवहार कर रहा होता है यानी दूसरों के साथ जब है वो कार्य में संलग्न अकेले नहीं है जोड़ है संबंध है उसका दूसरों के साथ ऐसी अवस्था में जब उसकी प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न होती है हम्म, तो अब वो अपने चित्त को कैसे स्थिर रखे अपनी साधना को वो नहीं छोड़े इसके लिए क्या करना चाहिए वो सारे इसमें दिए हुए तो ये ये इसके उपाय बताए हैं कि ऐसी अवस्थाओं में ये करना चाहिए मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम मैत्री करुणा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात भावनात चित्त प्रसादनम भावनात चित्त प्रसादनम शब्दार्थ कर लीजिए हो जाएगा सूत्रार्थ मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा के संबंध में सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयों के साथ विषयाणाम प्रयोगात छे तीन छः तीन है सुख दुख पुण्य अपूर्ण विषयों के संबंध में मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसादनम चित्त को नियंत्रित करना चाहिए अधिकार में रखना चाहिए यानी सुख के साथ मैत्री का संबंध है दुख के साथ करुणा करना चाहिए अपूर्ण पुण्य के साथ मुदिता का संबंध है और अपुण्य के साथ उपेक्षा इन इन के साथ इन इन की भावना उत्पन्न करनी है वहाँ पर सुख के साथ मैत्री भावना उत्पन्न करनी है दुख के साथ करुणा की भावना उत्पन्न करनी है पुण्य के साथ मुदिता की भावना करनी है और अपुण्य के साथ उपेक्षा की भावना करनी है इसके करने से चित्त अस्थिर नहीं होगा अनियंत्रित नहीं होगा विचलित नहीं होगा अपनी स्थिति में बना रहेगा अच्छा, सुख दुख पुण्य अपूर्ण विषयों में मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना तह भावना से चित्त प्रसादनम चित्त को एकाग्र करना चाहिए एकाग्रता हम्म। प्रसन्नता एकाग्रता ये आपको पीछे आया था ना इसका देखिए यहाँ पर चित्तम प्रसिदती एकाग्रम चित्तम प्रसिदती ऐसा शब्द है ना कहीं कहाँ पर आया है चित्तम एकाग्रम प्रसिद्धति ऐसा शब्द है यानी एकाग्रता और प्रसादन ये पर्यायवाची है संपद्यति तो होता है हो गया प्रसिद्धति है ऐसा शब्द है पीछे आया हुआ है तज्जपस्तद्भावनं करोमि एकाग्रम संपद्यते इसमें प्रसिद्धति भी है तो कहीं पर हाँ ध्यान में नहीं आगे पैंतीस नंबर सूत्र है तटस्थ चित्तम पुस्तकी हाँ स्थिति पदम लगते यही है हाँ देखिए तस्य सर्वमेव चित नहीं हाँ तैंतीस इसी में आएगा क्या अच्छा, पीछे हाँ ततस्य चित्तम प्रसीदति प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते ये मैंने सोचा पीछे कहीं आया तो तत्र सर्व प्राणीषु तत्र यानी उस प्रसंग में सभी प्राणियों में यानी सभी प्राणियों के प्रति चाहे वो मनुष्य है चाहे पशु है पक्षी है कोई भी प्राणी जीव जंतु सबके बारे में ये समझना चाहिए सुख संपन्ना भोगेशु या सुख सम सुख संभोगापन्नेशु सुख संभोग यानी संभोग माने साधन सुख के साधनों में से जो आपन्न है परिपूर्ण है यह सुख से जो संपन्न है या सुख के साधनों से जो संपन्न है परिपूर्ण है उनमें क्या करे उनके साथ क्या करे मैत्री भावे मित्रता की भावना करें अब ये वो चाहे शत्रु है चाहे मित्र है केवल इतना लेना है कि अधार्मिक नहीं होना चाहिए अधार्मिक हो गया तो उपेक्षा में आएगा धार्मिक होने पर चाहे अब शत्रु है चाहे मित्र है हम्म, छोटा है चाहे बड़ा है चाहे किसी भी अन्य दोष से युक्त है तो उसके साथ क्या होगा अब मित्रता की भावना रखनी होगी यानी जो साधन संपन्न साधन संपन्न का मतलब सुख साधन नहीं कोई जिसका शरीर मान ली बहुत सुंदर है किसी का हम्म, तो ये सुख के हैं उसके साधन हैं तो अब उसके साथ वो भले ही कुछ भी काम करता है हम्म, उसके साथ मित्रता रखनी होगी मित्रता का भाव कार्य नहीं करने का यहाँ यानी उसको दोस्त बनाना नहीं है यानी मित्रों के साथ जो व्यवहार करते हैं ना कार्य वो नहीं करना यहाँ अपने मित्रों के साथ जो भावना रखते हैं अपने के मित्रों के साथ तो लेना देना होगा सीधे सीधे काम होगा लेकिन इसके साथ काम नहीं होगा लेकिन जो भावना होगी दोनों में बराबर होगी हम्म, व्यवहार में अंतरित नहीं होगा एक के साथ सीधा सीधा लेन देन होगा अब हजारों लोग होते हैं सभी के साथ तो नहीं हो सकते ना व्यवहार कितने के साथ बोलेंगे आखिर बोलेंगे तो मेले में जाते हैं और कहीं यात्रा में जाते हैं तो कितने लोगों के साथ बोलते हैं लेकिन दिखते तो हजारों हैं हम्म, तो अब क्या होगा एक दो के साथ तो लेन देन होगा बाकी के साथ क्या होगी केवल भावना रहेगी हम्म, तो उसके लिए कह रहा है कि जितने भी संपन्न दिखते हैं अब वो धन से संपन्न हो सकता है बल से संपन्न हो सकता है बुद्धि से संपन्न हो सकता है रूप रंग से संपन्न हो सकता है किसी भी साधन से पढ़ाई से लिखाई से दौड़ से और भी उपाधि से प्रभाव से जैसे भी है यानी जिन जिन हेतुओं से सुख उसको विशेष मिलता है या मिलना है अधिकार से जो भी होगा तो उन परिस्थितियों में उनके साथ कि ये हमारा मित्र है मित्र का मतलब होता है बराबर का होना मित्र हर समय बराबर होता है छोटा नहीं होता है बड़ा नहीं होता है ये नहीं कह सकते उसके साथ कि हम इससे बढ़ कर के हैं या ये मेरे से कुछ नहीं है ऐसी उसके साथ एक प्रकार से बराबरी की भावना रखना स्नेह हम्म, स्नेह रखते हैं ना तो स्नेह की भावना उसमें रखना मुख्य अर्थ है कि ये जैसे कहते हैं कि ये धनी आदमी है हम्म, लूट के ही हुआ होगा धनी ऐसे कौन होता है धनी बेमानी किया होगा इधर से उधर लूट खरसोट किया होगा ऐसे कैसे धन्य हो ही नहीं सकता है व्यक्ति हम्म, तो एक निर्धन व्यक्ति जो होता है धनी व्यक्ति को देख करके हर समय यही मानता है कि जरूर चोर वो किया होगा इसने कहीं न कहीं लूटा होगा गरीबों का छून खून चूसा होगा वैसे ही हो ही नहीं सकता वही व्यक्ति कल को मान लिए पुरुषार्थ करते करते हो जाता है धनवान अब उसको समझ में आएगा कि धनी कैसे होया जाता है लेकिन जब तक वो धनी नहीं हुआ है उसको यही लगेगा कि नहीं ये सारे लुटेरे ही होते हैं हम्म। यद्यपि लूट करके धनी होते हैं बहुत सारे होते हैं पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे धनी लूट के ही धनी हुए बिना बेईमानी किए धन नहीं होता है उपार्जित ऐसा नियम नहीं होगा हम्म, यद्यपि छल कपट बहुत अधिक करते हैं पर ऐसा नहीं होता है कि उनका कुछ भी सत्य नहीं होता है उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता है केवल लूट मार चोरी डाका करके ही हुआ हो धनी ऐसा नहीं होता है हम्म, अभी कोई बच्चा है धनी परिवार में उत्पन्न होता है उसने कहाँ चोरी डकैती की उसके पास करोड़ों की संपत्ति है युवा हो गया तो उसको तो नहीं कह सकते नहीं कि लूट के ये जवान हुआ वो हुआ है धनवान माँ बाप ने दिए हैं उसको तो उस संपन्न घर में अगर वो उत्पन्न हुआ है वो उसको उसका दोष नहीं लगेगा ना वो तो उसका अपना है उसको नहीं कह सकते कि तू ही चोर है उसका दोष फिर भी नहीं माना जाएगा उसको दोषी नहीं कह सकते इसने ला कर डाला इसको जेल में डाल दो अधिक यही होगा कि इसकी संपत्ति ले लेंगे वो व्यक्ति पे दोष नहीं आएगा नहीं वो भी जरूरी नहीं है एक धनवान मैंने दुष्ट से दुष्ट के घर में भी अच्छा होता है ना उत्पन्न और अच्छे के घर में दुष्ट भी उत्पन्न होता है तो दुष्टता और ये दोष ये तो संस्कारों के कारण होते हैं यानी बुरे घर में भी अच्छा व्यक्ति उत्पन्न होता है वो संस्कार के कारण होता है लेकिन जो स्थिति मिली है ना उसको वो कर्म के कारण मिली है हम्म, बुरे घर में अच्छा व्यक्ति भी जा सकता है नहीं अच्छा कर्म उसने किया है मान ले एक ने किया है ना कर्म अच्छा नहीं किया भावना तो अच्छी है उसकी लेकिन करता कुछ नहीं है वो तो उसको अच्छा घर नहीं मिलेगा आगे साधन नहीं मिलेंगे आगे परिवार नहीं मिलेगा अच्छा साधन संपन्न तो पुरुषार्थ से ही मिलेगा कर्म से मिलेगा उसको तो उस संपन्न घर में साधन संपन्न में आया है तो उसने इतना पुरुषार्थ किया हुआ है इसलिए ऐसे को दोष नहीं लगेगा जो खानदानी जिसको कहते हैं धनवान है उसको नहीं कहा जा सकता है कि ये भी चोर डाकू ही है उपेक्षा तिरस्कार के योग्य है ऐसा नहीं होगा लेकिन लोक में एक तरफा ही चलता है सब अच्छा अगर बुरे में है तो वो बुरा ही है और बुरा यदि अच्छे में है तो वो अच्छा ही है ऐसे चलता है लेकिन योगी व्यक्ति या साधक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है उसको छांटना ही पड़ेगा बुरों में कोई अच्छा है तो उसको अच्छा मानना पड़ेगा अच्छों में कोई बुरा है तो उसको बुरा मानना पड़ेगा हम्म, मुसलमान के यहाँ भी कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको अच्छा मानना ही पड़ेगा वो नहीं कह सकता ये तो मुसलमान है और हिंदू में कोई ऐसा है कोई तो ये नहीं कह सकता ये तो हिंदू ही चलेगा साधना में ये नहीं चलेगा हम्म, धर्माधर्म का यही होगा वो ईश्वर का वेद का कितना विरोधी है कितना अनुकूल है मतलब तो नहीं एक तो होता है ना प्रत्यक्ष विरोध करता है उसका वो अधार्मिक में आएगा किसी की हिंसा कर रहा है किसी को मार रहा है पीट रहा है जानबूझ के इन्हें उद्देश्य ही बना रखा है उसका वो धार्मिक है और कोई मतलब किसी के सुख से उसके लिए कर रहा है प्रयास अपना सुख कम करता है दूसरे के सुख को दिन रात बढ़ा रहा है तो धार्मिक है उसको मना नहीं कर सकते फिर ऐसे करके लक्षण करेंगे उसमें तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो भी चाहे रूप से है चाहे रंग से है यानी भाषा से किसी को अच्छा बोलना आता है को बढ़िया बोलना आता है तो अब वो मित्रता के योग्य है फिर ये नहीं कि उसके साथ मित्रता जोड़ ही लो भाव रखना है बस क्योंकि कहीं बोलने लग गया और आप बैठे हैं तो फिर होगा कि भाई मैं तो छोड़ पहले बोलना सीखेंगे व्याख्यान हमने को नहीं आता है इसको तो बहुत बढ़िया आता है तो ये भावना कहीं ना आ जाए इसके लिए होगा ये मेरा ही तो व्यक्ति है क्या करना चलो अपना व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है तो उससे क्या होता है थोड़े हम अपनी चीज़ काम छोड़ देते हैं अपना नहीं छोड़ते हैं ना उसकी बराबरी नहीं करने लगते हैं लेकिन यहाँ अगर अलग मान रहे हैं तो बराबरी करने लग जाएंगे साधन योग दर्शन पढ़ रहे हैं कोई बहुत अच्छा मतलब व्याकरण आ गया अब होगा कि दर्शन छोड़ के व्याकरण पढ़ लो पहले नहीं तो ये तो पीछे कर देगा अपने को या तो ये सोचेंगे या फिर सोचेंगे ये भूल जाए कहीं व्याकरण इसको रह, याद नहीं रहे अच्छा हो इसको फंसा दो किसी और काम में वो अपना भूल जाए या फिर उसको और दोष निकाल दो नास्तिक है संध्या तो करता नहीं कभी बिगड़ बिगड़ा हुआ है पूरा पढ़ा तो है विद्वान पर बिगड़ा हुआ है पूरा तो ऐसे उसकी निंदा करने लग गए हम्म। तो ऐसे ऐसे मतलब उसको देख करके मन में असूया असूया की भावना चुगले की भावना द्वेष की भावना कहीं उत्पन्न ना हो जाए तो जब अपने से बड़ा हुआ दिखता है ना कोई तो द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है उसको कम करने की स्थिति बन जाती है तो उसमें थोड़ा सा भी अगर लग गए तो अगला काम बंद हो जाएगा हम्म, तो उसके लिए यहाँ पर कहा है कि वो अपना बंद नहीं होना चाहिए तो वहाँ क्या करें तो सीधे मान लो ठीक है मेरा ही व्यक्ति है और क्या करना है बस होगा तो अपना लाभ दे देगा नहीं तो क्या ज़रूरत है और दूसरा उपाय है कि भाई मैं अपना जो काम कर रहा हूँ ये हमारा अंतिम चीज़ है इसको भी लौट के वहीं आना होगा ये पूरा है ही नहीं है तो ऐसे निदान करो दूसरा या फिर ये कि अपना ही व्यक्ति होने तो क्या है कोई बात नहीं है तो इस तरह से जो भी सुख से संपन्न है सुख साधनों से किसी भी गुण से साधन से अगर वो संपन्न है तो उसके साथ बराबरी की स्नेह की मित्रता की भावना रखनी है उत्पन्न करनी है द्वेष नहीं आए किसी भी तरह से ऐसा प्रयास करना चाहिए दूसरा है मैत्रीम भावेद दुखितेशु करुणा अब कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है बीमार है चल नहीं चला नहीं जाता तो अब उसमें अब होगा क्या करें मैं पढ़ाई छोड़ के सेवा करूं माता जी की अब उसे तो चला नहीं जाता है कुछ नहीं होता है तो क्या करना चाहिए योगाभ्यास छोड़ करके घर गृहस्थी करनी चाहिए या छोड़ना चाहिए अब क्या करें हाँ। अब ये स्थिति आ गई पिता की आ गई भाई की आ गई या और कोई समाज में कहीं गए एक सन्यासी है वो अपना पड़ा पड़ा सड़ रहा है तो अब क्या करें अपना योगाभ्यास छोड़ें उसकी सेवा में लग जाएं दिन रात या फिर अपना कार्य करें तो उस स्थिति में है कि उसके साथ करुणा की भावना उत्पन्न करें ये सोचना है कि किसी भी तरह से इसका दुख दूर हो जाए समय यदि हो तो कर दो बनने की ज़रूरत नहीं है हम्म, लेकिन अपना काम कर रहे हैं तो इस नाम से खा रहे हैं तो दोष लग जाएगा फिर यानी साधना भी नहीं कर रहे हैं केवल ये अपना चोटी रख लिया है सेवा तो नहीं कर सकते वो लेकिन ये कहा मैं तो सन्यासी वो हूँ साधक हूँ योगी हूँ मैं क्यों करूँगा इसकी साधना वस्तुता यदि नहीं कर रहे हैं और सेवा भी नहीं करते हैं तो दोष आएगा फिर वास्तविक में कर रहे हैं और उस समय वो आ गया तो छोड़ सकते हैं फिर भावना रखनी है कि ठीक है इसका दुख दूर हो जाए लेकिन मैं नहीं कर सकता लगूंगा तो मेरा जाएगा तो करनी चाहिए तब सेवा करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं तो है हम्म। उसके ये एक ही नहीं है संसार में एक को कर देंगे दूसरे का नंबर लगा देंगे दूसरे क्या करेंगे तीसरे का लग जाएगा कितने का करते रहेंगे जिस दिन छोड़ेंगे उसी दिन फिर तीसरा आके नया बोलेगा कि नहीं तो क्या करेंगे फिर एक ये है और आप बोल रहे हो फिर इसके बाद दूसरा आएगा कि नहीं आएगा वो तो उसमें खड़े रहोगे कि नहीं आप इसने तो कर दिया है आप खड़े रहो कि ठीक है वो बताने के लिए इसने तो कर दिया अगले की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है हम कर देते हैं और यदि आप भाग जाते हो छोड़ के तो हम हमको क्यों रोकते हो कहीं भी है समाज के कार्य हैं कुछ भी होता है हम्म, तो लगाने वाला व्यक्ति ना उससे नहीं जुड़ता है वो वो अपने को हटाने के लिए दूसरे को लगाता है या जिसमें लगा हुआ है दूसरे में वो नहीं लगेगा उसी में लगवाएगा उससे क्या होगी उसको लाभ मिल जाता है सहायता मिल जाती है वो अपनी सहायता के लिए कर रहा है या तो वो अपनी सहायता के लिए दूसरे को बांध रहा है या फिर अपने को निकालने के लिए अधिकतम ये प्रयोजन रहते हैं उसमें अगर ऐसा प्रयोजन नहीं है आप्त व्यक्ति है तो वहाँ विचार सकते हैं करना चाहिए फिर मानी जा सकती है उसकी बात लेकिन इस दोष से यदि वो उपयुक्त है तो उसको मानने की ज़रूरत नहीं है यानी वो तो अपना धंधा कर रहा है दूसरा और दूसरे को लगा रहा है कि तुम ये कर दो तो उसकी सुनने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सचमुच में वो लगा हुआ है उससे नहीं हो पा रहा है जैसे होता है ना कोई अपना बोझ उठा रहा है इतना अधिक तो पहले तो शक्ति लगा ही रहा है थोड़ी सी शक्ति के कारण अभाव में वो नहीं उठा पा रहा है तो ऐसे का बोझ यदि उठा देते हैं तो दोष नहीं है और कोई कह रहा है कि मेरा बोझ उठा दो सिर पे रख दो हम्म, ऐसे करके खड़ा है रख दो मेरे ऊपर तो ऐसे को नहीं उठाना चाहिए फिर जो स्वयं उसमें लगा हुआ है थोड़ी सी अपेक्षा रखता है तो सहायता कर देनी चाहिए लेकिन ये ये फंसा के निकल जाएगा तो वहाँ सहायता करने की ज़रूरत नहीं होती है तो ऐसे करके इनकी करनी चाहिए तो यहाँ करुणा आदि भी है मुख्य रूप से यहाँ पर भावना के लिए बनाया है कि वो भावना अपने अंदर होनी चाहिए नहीं तो मन विक्षिप्त होगा एकाग्र नहीं हो पाएगा नहीं देखो साधना भी करता है ना आजीवन नहीं करता है व्यक्ति साधना साधना काल में जो तो छोड़ सकता है वो कुछ समय का ही होता है ना पूरे जीवन तो करता नहीं है कोई और कर रहा लंबा काल का यदि हो तो बगल में कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा ही अपने स्तर के कार्य करता है साधक व्यक्ति भी खाली नहीं बैठता है कोई न कोई कार्य तो करता ही करता है वो हम्म। यानी सर्वथा छोड़ के नहीं कर सकते साधना भी किसी से ले रहे हैं तो अपने स्तर का देना तो होगा ना हम्म, ये हो सकता है थोड़े काल के लिए बिल्कुल रोक देते हैं लेकिन बाद में फिर उतना देना होता है ऐसे नहीं हुआ कि पहले भी नहीं दिया और अब भी नहीं देंगे पहले तो कहा मैं तो कहाँ साधना कर रहा था कैसे करता और अब कहने में तो हो गया अब मैं क्यों करूँगा अब तो मैं बड़ा हो गया मैं थोड़े काम करूँगा तो पहले इसलिए नहीं था कि मैं तो छोटा हूँ अभी मैं कर ही नहीं सकता इसलिए नहीं काम करूँगा और बड़ा हो गया तो कहे मैं तो बड़ा हो गया अब कैसे करूँ तो ये दोष नहीं आने चाहिए हम्म, अगर पहले आपने ले लिया है तो अतिरिक्त ऋण हो गया है वो वो तो चुकाना ही पड़ेगा फिर यानी साधना सिद्ध होने के बाद उसका स्तर अधिक ऊंचा होना चाहिए उन इससे छोटे स्तर के कार्य नहीं करेगा लेकिन बड़े वाला तो शुरू करना पड़ेगा हट नहीं सकते यहाँ से कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इसलिए ऐसा नहीं होता है कि जो साधक होता है जो होता है मतलब संसार से सर्वथा कटा रहता है ऐसा नहीं होता है करता है वो उसी काल करे ये नियम नहीं है बस कभी नहीं करे ये नहीं होगा ऐसे करके उत्तर दे देना चाहिए उसको तो दुखितेशु करुणा यानी जो दुखी है विवश है असमर्थ है भीख मांगने वाले आते हैं एक को दे दिया फिर दूसरा आ गया तीसरा आ गया कहाँ तक देते रहेंगे तो उस स्थिति में यही है कि भगवान किसी तरह से इसको निपटा दो जीवित रखो बस ठीक हो जाए करुणा का अर्थ होता है कि इसका दुख दूर हो जाए यानी एक जो अत्यंत असहाय होता है ना जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता तो उसके दुख दूर करने की जो भावना है उसका नाम करुणा है प्रार्थना भी वो कर प्रतिक्रिया है मूल भावना है कि ये दुख रहे नहीं इसका यही भावना करुणा होती है तो ऐसी भावना करना कि इसका दुख किसी तरह से मिट जाए हम्म, यानी दुख मिटना चाहिए ऐसा नहीं भाग जाए यहाँ से चल यहाँ से दे तो दिया ऐसी मतलब उस तरह की उपेक्षा भावना वहाँ नहीं करनी चाहिए पुण्यात्मकेशु मुदिताम अब जो पुण्य कर्म करते हैं यानी परोपकार करते हैं त्याग करते हैं साधना कर रहे हैं तपस्या करते हैं लोगों का उपकार करते हैं ज्ञान विज्ञान से कई प्रकार के जो उत्तम बड़े बड़े कार्य करते हैं अब ये आदमी चाहे लोभी है लालची है क्रोधी है जैसा भी है लेकिन एक बहुत अच्छा हम्म, भवन बनवा दिया विद्यालय बना देता है सड़क पर अन्य कार्य कर देता है तो ये पुण्य के कर्म हो गए तो अब उस व्यक्ति के उस कार्य को देख करके प्रसन्नता मन में उत्पन्न करना है ये नहीं कि तो लुट के लाया इधर लगा दिया इसने उतने कर्म मात्र में होने चाहिए वो काम गलत कर रहा है उस गलत काम को गलत ही करना है लेकिन गलत कार्य को अब अच्छे में लगा दिया उसने और उसका अब नहीं लेगा वो क्या कहेंगे उसको मुआवजा या प्रतिफल नहीं लेगा उससे तो अब उसने ठीक कर दिया है एक डाकू व्यक्ति है भले ही डाका डाला लेकिन अब उसने दे दिया उस चीज़ को उसका नहीं लेगा अब उससे मुआवजा प्रतिफल नहीं लेगा तो वो कर्म अब उसके पुण्य हो गए लेकिन प्रतिफल के लिए दे रहा है तो अभी नहीं है पुण्य उसका हाँ दो कर्म अच्छे हाँ हम्म, अच्छे माने जाएंगे उसके नहीं जो कर रहा है वो तो बुरा है लेकिन जो कर दिया है ये वो ठीक है लेकिन इतना होना चाहिए कि उससे नहीं लेगा प्रतिफल यानी डाकू जैसे व्यक्ति है गांव वालों को दे देता है पुलिस आती है तो उसी के यहाँ भागता है बचने के लिए इस निमित्त से देता है हमें अपनी रक्षा के लिए दे रहा है ना तो वो नहीं है पुण्य कर्म उसका वो उसकी अपनी सुरक्षा है तो इसमें उसको नहीं कहा जा सकता है ठीक करता है लेकिन यहाँ डाका डाल के कहीं और लगा देता है जाके तो उसको तो कहना पड़ेगा कि ठीक किया ये ठीक कर्म है इसके हाँ। जिसका दोनों भी शुद्ध है ना वो बड़ा है व्यक्ति तो ये श्रेष्ठ है जो दोनों ठीक ठीक कर रहा है लेकिन दान उसका श्रेष्ठ है जिससे अधिक प्रतिफल होगा उत्पन्न आगे लाभ समाज को वो बड़ा है उसमें व्यक्ति ये बड़ा है दान उसका बड़ा है दान तो वही बताए ना अलग अलग करना होगा उसमें अलग अलग करना होगा दो विभाग कर देंगे दान उसका बड़ा होगा व्यक्ति ये बड़ा हो जाएगा ये भी होगा ना कि ये आलसी प्रमादी इतना करता ही नहीं ये ना देता है कुछ दो पैसा देता है किसी को दान अब दो दो दान देते रहे उसे क्या होगा कमाता है इकट्ठा दान दे देता है वो ठीक है उससे आगे वो अपना पेट भी नहीं चला पा रहा है अब उसका पुरुषार्थ कित काम का है वो पूरा जीवन ऐसे ही बिताता है वो फिर भी गिनती में नहीं आएगी ना उसी कुछ काम का ही नहीं हो रहा है ना परिणाम तो कुछ आएगा नहीं अच्छा, बस अपना पेट पाल रहा है वो इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है वो समाज के काम में तो आ ही नहीं रहा है अभी वो नहीं देखो कोई निस्वार्थ रूप में अगर कर रहा है त्याग तो उसके पीछे कोई भावना नहीं होगी क्या उसमें कुछ तो होंगे ना उसके पास संस्कार होंगे कुछ भी होगा पहले यानी उस चीज़ को अच्छा तो मानता है उसमें हो सकता है किसी व्यवस्था के कारण उस कार्य को कर रहा है वो और जो धंधा बना के कर रहा है वो नहीं करेगा ऐसा त्याग नहीं कर सकता वो विवस्था के कारण जो करता है वो ऐसा करेगा हम्म। हाँ वही मैं कर लें वो अपने उसके लिए नहीं कर रहे हैं वो अपना जोड़ नहीं बढ़ा नहीं रहे हैं उससे प्रतिफल नहीं ले रहे हैं वो दूसरे के लिए कर रहे हैं वो काम तो ठीक है वो ठीक नहीं है टूट रहे हैं वो ठीक नहीं है काम दुर्बलता है उनकी लेकिन बाद में जो लगा दिया है उसको तो ठीक करना पड़ेगा हाँ विहित करके पहले से विहित कर दिया ना कि ये दुष्ट लोग हैं अब उसके यानी दुष्टों को जैसे मारना होता है वो कैसे भी मारा जाएगा जब विहित हो गया इसको मारना है वो भागेगा जो भी करेगा बचने के लिए तो अब तो उसी तरह से मारना पड़ेगा उसको अब ये थोड़े कहेंगे कि छिप के मारा इसने अब राम ने बाली को मार दिया पहले से पता है भाग जाता हो वो कहाँ उठते रहते उसको रावण के पास मिल जाता जा करके तो मरता ही नहीं फिर वो तो इसलिए उसको मार दिया तो कोई दोष नहीं है उसको दुष्ट आदमी सिद्ध है मारने योग्य है बस अब कैसे मारा जाए ये गौण है मुख्य चीज़ है मारने योग्य था या नहीं सिद्ध हो गया कि मारने योग्य है तो कैसे मारा जाए ये गौण हो जाएगा वो भागने वाला नहीं था वो डटता वो पहले लगा रखा था इतनी सारी सेना उसको नहीं कहते तो भी वो लड़ता आकर के सामने हम्म। वो भागने वाला नहीं था इसलिए उसको सामने सामने ही मारना पड़ता इसलिए वहाँ सामने भी महाराज कोई दोष नहीं है तो ये तो भाग जाता है निश्चित भागता है बाली नहीं टिकता है हाँ ये भाग जाता है ये ये दुष्ट आदमी था ना बहुत अधिक था इसके पास उतनी सामर्थ्य भी नहीं थी तो भाग जाता है ये रावण भागने वाला नहीं था वो भाग के भी आ जाता फिर तो इसलिए उसको मारा सामने से तो मूल चीज़ यही है कि यानी कर्म सिद्ध हो गया कि ये करना है तो साधन वहाँ गौण हो जाते हैं कर्म यदि सिद्ध नहीं है तो साधन प्रदान रहेगा संपत्ति उपार्जित करनी है कितनी करनी है निश्चित नहीं है तो साधन रहेगा कि ठीक से ही करना पड़ेगा गलत रूप में नहीं कर सकते और ये हो गया कि इतना करना ही पड़ेगा तो भी जैसे तैसे करना ही होगा तो ये हो गया कि दुखितेशु पुण्यात्मकेशु मुदिता यानी जो भी अच्छे साधु हैं सन्यासी हैं त्यागी हैं तपस्वी हैं बुद्धिमान है या अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं तो इनके प्रति पुण्यात्मक भावना रखनी चाहिए परोपकारी दयालु जो कुछ भी है हम्म। अब इसके बाद कहा ये सारे के सारे धार्मिक पक्ष में आएंगे अपुण्यात्मकेशु उपेक्षा अब जो दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ ना तो लेना ना तो देना हम्म। एक लेना नहीं दो देना नहीं तो इस तरह से उसके साथ कोई साठ गांठ नहीं रखनी चाहिए वो है नहीं ऐसा मान के चलना चाहिए यदि उसके विषय को बनाते हैं विषय तो फिर बहन है उसमें जाएंगे निदान नहीं मिलेगा समाधान नहीं हो पाएगा क्योंकि उतनी सामर्थ्य नहीं होगी अभी बहुत अधिक बलवान हो सकता है अभी से अगर सोचते हैं कि सारे आतंकवादी हम ख़त्म कर देंगे एक को भी नहीं रहने देंगे तो आज आपका योगाभ्यास बंद हो जाएगा नहीं कर पाएंगे उनकी सामर्थ्य इतनी अधिक है दो चार साल में नहीं होंगे ख़त्म हो तो ऐसे में ये होगा कि पहले अपना काम कर लेना है इसको सोचना है बाद में नहीं जो अपने से बहुत अधिक सामर्थ्य की बात है और दुष्टता है वो अधर्म है अन्याय पाप सब कुछ है तो उसमें हुआ कि इसको विषय नहीं बनाना है बस हम्म। या व्यवहारिक चिंतन में भी ऐसे विषय हैं राग द्वेष आदि के हैं काम क्रोध आदि के हैं जिसको विषय बनाते हैं तो उल्टे दब जाते हैं हम्म, उसका निदान तो नहीं मिलता है उल्टे प्रभावित हो जाते हैं तो उसके लिए भी यही नियम उसको विषय हटा देना होगा बस उसकी विषय की उपेक्षा नहीं विषय को भुला दो भुलाने के बाद फिर चित्त में फिर से ज्ञान उत्पन्न होगा उसके बराबरी का वहाँ फिर उसका समाधान ढूंढें जैसे ही किसी विषय का ये दिखने लग जाए कि मुझे दबाने लग गया तो उसका केवल एक ही उपाय होता है कि उसको बुला दो बस काट दो विषय अंतर करो हाँ विषय को यानी जो भी विषय नियम सभी में एक ही लागू होते हैं वो साक्षात साधन रूप में है दुष्ट ये अभी विचार रूप में है लेकिन दबा रहे हैं दोनों तो दोनों से बचने का उपाय एक ही है उससे कट जाओ बस हाँ वही यहाँ विषयांतर करना कटना है वहाँ उससे व्यवहार नहीं रखना कटना है यानी अपने को या उसको अलग ही करना होगा जोड़ के नहीं रख इन तीनों में जोड़ना है इन तीनों के में स्थितियों में अपना संबंध कटा नहीं है और उसमें अपना संबंध कटना है जुड़े रहेंगे तो दब जाएंगे नहीं कर पाएंगे समाधान नहीं होगा हाँ जब तक नहीं है सामर्थ्य वो मार देगा परिवर्तन नहीं आप में कर देगा वो आप नहीं कर पाएंगे वो इसलिए उसमें यही होगा बच के रहना पड़ेगा आपकी सामर्थ्य दिखती है कि हाँ इसको पकड़ लेंगे कुछ नहीं करेगा ये तो अब उसको ठीक करते रहो नहीं उल्टे आपको डुबो देगा वो नहीं रावण को नहीं बनाया जा सकता है तो अगले जन्म में ही ठीक करेंगे उसको भगवान ही बना सकता है आदमी नहीं बना पाएगा तो ऐसे जहाँ भी चाहे विचार है व्यक्ति है साधन है सभी में यही नियम लागू में जिससे दब जाते हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं उसके साथ यही उपाय अलग हो काट दो अब वो चाहे घर वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं सभी पर यही होगा जो इस मार्ग में आने से हमको बिल्कुल रोक देंगे आगे नहीं बढ़ने देंगे तो उसके उपाय यही है कि किसी तरह से अलग हो जाओ उससे उसको अलग कर दो तो यही है कि जो अपुण्य व्यक्ति है दुष्ट व्यक्ति है पापी व्यक्ति है उसके साथ संबंध काट लो उसकी यानी उसका विचार ही मत लाओ कोई प्रसंग मत चलाओ तो ऐसा करने से क्या होता है चित्त एवं अस्य भावित इस प्रकार से भावना करते हुए का हम्म, शुक्लो धर्म उपजाए थे शुक्ल श्रेष्ठ स्वच्छ धर्म हम्म, पुण्य धर्म उत्पन्न होता है हम्म, दोष रहित चित्त स्थिति बनती है ततस्य चित्तम प्रसीदती इस इस कर्म से इससे चित्त शांत प्रसन्न होता है एकाग्र होता है हम्म, प्रसन्नम एकाग्रम प्रसन्न और एकाग्र स्थिति पदम लभते स्थिति पद को प्राप्त होता है इस प्रकार से साधक व्यक्ति को भावना के द्वारा व्यवहार काल में अपने चित्त को शांत करना चाहिए